फाइनल अटैक अरे सर मैं आपको कॉल करने वाली थी कि आपने ही मुझे कॉल कर दिया सुनिधि ने विक्रांत से कहा सर ये निकिता तो काफी अजीब है अभी मैंने इसे होटल में चार आदमियों के साथ जाते देखा है क्या सच में पहचाना नहीं कौन कौन था विक्रांत ने जिस काम से सुनिधि के पास फोन किया था वो कहना तो भूल ही गया फिर तुरंत ही सुनिधि ने जोर से हंसते हुए कहा अरे नहीं नहीं आप ज्यादा मत सोचिए मुझे पता है आप गलत ही सोच रहे होंगे वो होटल में किसी कॉन्फ्रेंस के लिए गई हुई है फिर विक्रांत ने सुनिधि की बात को बीच में ही काटते हुए उसका ध्यान अपनी बातों पर खींचा और फिर उसने गाड़ी ड्राइव करते हुए सुनिधि को सारी बात बता डाली सुनिधि काफी खुश हुई कि आखिर ये केस सॉल्व हो ही गया उसके जैसे एक नए इंटर्न के लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी लेकिन अभी भी चिंता की बात यह थी कि इस केस की मुजरिम आशिमा अभी तक पकड़ में नहीं आई थी और दूसरी तरफ वो रश्मि सैनी की जान भी खतरे में थी सुनिधि ने विक्रांत से पूछा तो सर अब हमें क्या करना चाहिए केस के सॉल्व हो जाने से विक्रांत भी काफी नर्वस था उसके लिए भी ये काफी बड़ी अचीवमेंट थी ऐसे में उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि अब अंतिम समय में इसे कैसे हैंडल करें अभी उसे आशमा को ढूंढना था और रश्मि को बचाना भी था और फिर आशमा के घर जाकर सारे सबूत भी इकट्ठे करने थे और घर से वो कटा हुआ हाथ भी कलेक्ट करना था अकेले विक्रांत और सुनिधि के लिए यह मुमकिन नहीं था कि वो दोनों मिलकर ये सब काम कर लें किसी भी हालत में उन्हें किसी न किसी की मदद की जरूरत थी लेकिन विक्रांत मंजू या पुष्कर में से किसी को मदद के लिए नहीं बुला सकता था क्योंकि अगर वो दोनों आ गए तो विक्रांत की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी वो दोनों ही आकर काम का सारा क्रेडिट खुद ले जाएंगे काफी देर तक सोच विचार करने के बाद विक्रांत ने सुनिधि को टीम ए के मेंबर से कांटेक्ट करने का ऑर्डर दिया टीम ए के मेंबर काफी दिन से कोई केस सॉल्व नहीं कर सके थे हमेशा टीम बी वाले ही बाजी मारकर ले जाते थे इस वजह से टीम ए के लोग टीम बी वालों से जलते भी थे ऐसे में अगर उन्हें इस तरह किसी केस के सॉल्व होने का तोहफा मिलेगा तो वो बहुत खुश होंगे भला उन्हें भी एक बार अपनी डूबी हुई इज्जत बचाने का मौका मिलेगा फिर विक्रांत और सुनिधि ने आपस में सलाह करके रश्मि और आशिमा की लोकेशन निकलवाने के लिए राघव की मदद लेने का फैसला किया बेशक राघव की मदद से वो रश्मि और आशमा को जल्दी से पकड़ सकते थे इसके तुरंत बाद ही सुनिधि ने टीम ए के लोगों को साथ में काम करने के लिए कन्विंस कर लिया उधर विक्रांत तुरंत ही सुनिधि के पास आशमा के घर पर सबूत की क्लिक की हुई फोटोज भेजना चाहता था लेकिन विक्रांत के फोन में नेट ही नहीं था लेकिन उसका दिमाग बहुत तेज चलता था वो रास्ते में ही पड़ने वाले के रेस्टोरेंट में पहुंच गया और वहां के वाईफाई की मदद से सुनिधि के पास फोटोज सेंड कर दी ये वही के रेस्टोरेंट था जिसके पास मीणा बंसल का हाथ काटा गया था उसने इसी रेस्टोरेंट में पहुंचकर पुलिस को हेल्प के लिए कॉल किया था सुनिधि के पास फोटोज सेंड करने के बाद विक्रांत ने तुरंत ही राघव के पास फोन करके उसे आशमा के बारे में पता करने के लिए कहा लेकिन वो भी अपनी आदत से मजबूर था बिना किसी फायदे के टस से मस नहीं होता था इस बार भी उसने विक्रांत को कोई बहाना बता दिया लेकिन विक्रांत को इस बार उस पर गुस्सा नहीं आया विक्रांत ने राघव को यह बता दिया कि उसने सुनिधि के पास केस से जुड़े सारे एविडेंस भेज दिए हैं तब जाकर राघव को अपना कुछ फायदा नजर आया उसे लगा कि ये केस काफी हाईलाइटेड है केस में किसी भी तरह से अगर उसका नाम भी जुड़ जाता है तो हो सकता है कि उसकी किस्मत भी चमक उठे उसने तुरंत ही विक्रांत से कहा ठीक है वो मुझे नंबर दो मैं पांच मिनट में ट्रैक करके बताता हूँ विक्रांत को पता था कि अब की बार वो झूठ नहीं बोल रहा है वो वाकई में पांच मिनट में ही सब कुछ बता देगा बामुश्किल से चार पांच मिनट बाद ही राघव ने विक्रांत के पास फोन किया उसने विक्रांत से कहा इसका तो कुछ पता नहीं चल रहा है शायद आशमा का फोन स्विच ऑफ है हो सकता है उसमें सिम भी नहीं लगी हो इस वजह से उसे ट्रैक नहीं किया जा सकता ये बहुत चालाक है इसे सब पता था जानबूझकर इसने सिम बाहर निकाला होगा हम्म मुझे पहले भी लग रहा था अच्छा उसका वो रश्मि की लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश करो मैंने तुम्हें उस फ्लाइट की टिकट भेजी थी उसमें से रश्मि का नंबर निकालकर ट्रैक करो भाई वो इंटरनेशनल नंबर यूज कर रही है ऑस्ट्रेलिया का नंबर है उसका उसे ट्रैक करने में टाइम लगेगा कितना टाइम लगेगा लगेगा तो दस मिनट ही लेकिन अगर ऑफिस के कंप्यूटर से करूं तो राघव ने कहा क्या मतलब अभी तुम कहाँ के कंप्यूटर से आशमा को ट्रैक कर रहे हो विक्रांत थोड़ा कंफ्यूज होकर बोला ब्रो वो मैं अभी क्लब में था पोलो खेलने के लिए आया था लेकिन तुम मुझे बस पंद्रह मिनट दो मैं तुरंत ऑफिस पहुंचकर बताता हूँ ऑफिस के बाहरी क्लब है इतना कहते हुए राघव तुरंत वहां से उठकर अपने ऑफिस के लिए भागा शिट यार तेरे मरने पर मैं एक पोलो भी तेरे साथ जलाऊंगा कमाल है यार पंद्रह मिनट में तो सब कुछ खत्म हो जाएगा विक्रांत को अब राघव पर बहुत गुस्सा आ रहा था कुछ नहीं होगा ब्रो मैं तुरंत पहुंच रहा हूं ऑफिस विक्रांत ने चिड़कर फोन रख दिया फिर उसके दिमाग में कुछ चलने लगा एक बात तो पक्की थी कि आशमा एयरपोर्ट पर तो रश्मि का हाथ नहीं काट सकती वो इतनी भी शातिर नहीं है और दूसरी बात हाथ काटकर उसे घर भी ले जाना होगा जो बिल्कुल भी संभव नहीं था हाथ ले जाने के लिए बेशक वो किसी न किसी बड़े बॉक्स का यूज करती होगी ऐसे खुले में तो वो ले नहीं जाएगी और एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी बहुत टाइट रहती है वहां उसका इस तरह के किसी बॉक्स के साथ अंदर जाना पॉसिबल है ही नहीं रश्मि साढ़े तीन बजे ही एयरपोर्ट पहुंच गई होगी अगर उसकी फ्लाइट लेट नहीं हुई होगी तो और फिर वो कहा जाएगी शिट शिट अचानक विक्रांत के दिमाग की बत्ती जल उठी रश्मि एयरपोर्ट से सीधे अपने पीटर अंकल की कब्र के पास जाएगी अभी साढ़े चार से ज्यादा हो रहे हैं वो कब्रिस्तान पहुंच भी रही होगी और वहां तो कोई सिक्योरिटी भी नहीं होती और ना ही कोई सीसीटीवी कैमरा लगा होता है पक्का है आशमा वहीं उसका इंतजार कर रही होगी वहीं पर वो रश्मि पर हमला करेगी वही जगह रश्मि पर अटैक करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगी तो क्या रश्मि के पास आशिमा पहुंच गई ये जानने के लिए सुनते रहिए मेरी इस कहानी को